मुसाफिर और जौहरी एक वक्त का किस्सा है जय नाम का एक शख्स अपने छोटे दोस्त कुत्ते रस्की के साथ दुनिया में सब तरफ का सफर कर रहा था कुदरत की खूबसूरती याद करने के लिए एक दिन जब वो खेत से गुजर रहा था रस्की नीचे गड्ढे में देखकर भौंकने लगा क्या हुआ बच्चे तुमने क्या देखा वो उस गड्ढे की तरफ गया जहां उसने एक इंसान एक बंदर एक शेर और एक सांप को अंदर फंसे हुए देखा रहम दिल और प्यारा इंसान होने के नाते उसने इसके मुतालिक कुछ करने का फैसला किया ओ नहीं मुझे उस इंसान को सबसे पहले बचाना चाहिए वरना वो खूंखार जानवर खा जाएगा उसने आसपास देखा और उसे रस्सी का एक लंबा टुकड़ा मिला उसने इसे लिया और रस्सी का एक किनारा नीचे गड्ढे में डाल दिया बंदर ने फुर्ती से रस्सी का टुकड़ा पकड़ा और ऊपर चढ़कर महफूज पहुंच गया इसके बाद सांप ने खुद को रस्सी के आसपास लपेटा और ऊपर की तरफ अपना रास्ता बना लिया और आखिर में शेर ने इसे पकड़ा और उसे खींचा गया और गड्ढे से बाहर निकाला गया तीनों जानवर उस मुसाफिर के बहुत शुक्रगुजार थे और उसके इस नए काम के लिए उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया बहुत बहुत शुक्रिया रहम दिल बंदे मैं नौ लॉक के शहर की पहाड़ियों के पास रहता हूँ अगर आपका वहाँ से गुजरना हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूँगा हम आपके बहुत बहुत एहसान मंद है की आपने हमारी मदद की मैं नौ लॉक की दीवारों में रहती हूँ और अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं खुशी खुशी आपके इस एहसान की कीमत चुका सकती हूँ लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि उस नीचे वाले इंसान को मत बचाना सभी इंसान खासकर वो इंसान बहुत ही एहसान फरामोश है उस पर भरोसा मत करना हमारा मशविरा माने वो एक लालची और एहसान फरामोश इंसान है जो मदद के लिए तैयार नहीं था और जिद पर अड़ा था जब हम बाहर आने के रास्ते की तलाश कर रहे थे खैर आपकी मदद के लिए शुक्रिया और अगर आप कभी भी सैरोना दरिया के पास से गुजरें तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं एक खूबसूरत तोहफा देकर आपका एहसान हूँ ये कहकर वो जंगल में भाग गया जय ने वो सब नजरअंदाज किया जो उन्होंने उससे कहा था और फिर बेचारे आदमी की मदद का फैसला किया जय ने रस्सी खींची और गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उस शख्स की मदद की शुक्रिया मेरा नाम है रूरकान और मैं एक जौहरी हूँ अगर आप कभी भी नॉर्लॉक के शहर में आए तो मैं आपकी मदद करके आपका एहसान चुका सकता हूँ ये कहकर जौहरी शहर की तरफ निकल पड़ा और जय ने अपना सफर जारी रखा जय खेतों में से चलकर गुजरा और की खेलता रहा परिंदों से और तितलियों के पीछे खेलते हुए जब तक कि वे एक पहाड़ पर नहीं पहुंच गए जहां बंदर ने उनका इस्तकबाल किया खुशामदीद दोस्तों आपको देखकर बहुत अच्छा लगा बस वहीं रुकिए मैं अभी वापस आता हूँ क्यों नहीं जय और की दरख्त के नीचे बैठ गए बंदर के वापस आने का इंतजार करते हुए कुछ ही मिनटों में बंदर वापस आ गया एक बहुत ही खूबसूरत बांस की सीटी लेकर इस सीटी को बजाओ जब भी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो मदद आ जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया हमें अब अपना सफर जारी रखना होगा उन्होंने बंदर को अलविदा कहा और आगे चलते रहे पहाड़ से नीचे उतरते हुए पहाड़ से नीचे उतरकर वो चलते गए और जंगल से गुजरे जहाँ उन्होंने देखा शेर उनके पास चलकर आया उसने उन दोनों के आगे सजदा किया और कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे बचाने के लिए यहाँ रुकना और मैं वापस आता हूँ आपके लिए कुछ लेकर शेर दरिया की तरफ गया जहाँ उसने देखा कि नॉरलॉक की शहजादी तैरने जाने वाली ही है अपनी कुछ खादिमाओं के साथ वो उनके करीब पहुंचा और जोर से दहाड़ा उस खूबसूरत जानवर को एक पत्थर पर खड़े हुए देखकर शहजादी और उसकी खादिमाएं इधर उधर तितर बितर हो गईं। जो कुछ भी वो उठा सकी उसे उठाकर अपनी जान बचाकर भागी शहजादी भागो शेर भागकर ऊपर गया जहाँ उसे मिला एक चमकता हुआ मोतियों का हार आहा उसने वो मोतियों का हार लिया और वापस मुसाफिर के पास गया और उसे उसके सामने गिरा दिया मेहरबानी करके इसे कबूल फरमाइए मेरी मदद करने के एवज में शुक्रिया आप तो सच में बहुत रहम दिल हैं और ये लो इस छोटे बच्चे के लिए एक सेब इस बात से अनजान कि यह हार किन तरीकों से हासिल किया गया है उन्होंने शेर को सजदा किया और दरिया को पार की और जल्दी ही उन्होंने पाया कि वो नॉर्लॉक के शहर में दाखिल हो रहे हैं देखो रस्की हम शहर में पहुंच गए हैं ये हमारे लिए आराम करने की अच्छी जगह होगी फिर कल हम अपना सफर जारी रख सकते हैं चलो चलते हैं आ जाओ जल्दी करो बहुत बढ़िया रहेगा अगर हमें जौहरी रॉडकॉन यहाँ मिल जाए हम उनसे कहेंगे कि वो हमारे लिए ये हार बेच दें ताकि हमें कुछ पैसे मिल जाए हमारे सफर और खाने पीने के लिए क्या कहते हो दोस्त चलो देखते हैं शायद वो बाजार के नजदीक कहीं मिल जाए इस दौरान जब खादिमाएं वापस आईं, शहजादी का सामान वापस ले जाने के लिए उन्होंने उस बेशकीमती हार को शिद्दत से ढूंढा पर उन्हें वो कहीं नहीं मिला वो वापस बादशाह के पास गईं जिसने ये ऐलान किया कि जो कोई भी उस बेश उमती हार को ढूंढेगा और उसे वापस करेगा उसे इनाम से नवाजा जाएगा जय और रस की बाजार गए जहां उन्हें रॉर्किन की जेवरात की दुकान मिली हो रहे रॉर्किन मुसाफिर को देखकर खुश हुआ कैसे हैं आप आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा बताइए मुझे मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ मैं शहर से गुजर रहा था और मुझे जगह चाहिए आराम करने के लिए और कुछ खाने के लिए और मेरे पास बस ये हार ही है मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे ये हार खरीद लेंगे और मैं वो पैसा अपने सफर के लिए इस्तेमाल कर सकूंगा हार को देखकर रोरकिन ने फौरन उसे पहचान लिया ये वही हार है जो मैंने शहजादी रिया के लिए बनाया था मुझे बादशाह को इसकी इतला करनी होगी फिर मैं हमेशा के लिए दौलतमंद हो जाऊंगा जरूर क्यों नहीं बैठिए आपके लिए मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ ठीक है आप इंतजार कीजिए मैं जल्दी ही वापस आऊंगा जय बैठ गया और इंतजार करने लगा और रोरकिन जल्दबाजी में निकल गया जौहरी फौरन बादशाह के दरबार में गया और बादशाह को उस हार के बारे में बताया हजूर आला वो आदमी जिसने ये हार चुराया और अब वो हार उसके पास है वो मेरी दुकान पर बैठा हुआ है बहुत खूब पहरेदारों उस शख्स को अभी मेरे सामने पेश करो जय और उसका कुत्ता रस की बादशाह के सामने लाए गए और उसके हाथ में उस हार को देखकर उसने फौरन पहरेदारों को हुक्म दिया कि मुसाफिर को सजा दी जाए लेकिन लेकिन सुनिए मैं मैं एक और लफ्ज नहीं सुनना चाहता तुम्हें हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा ताकि पूरा शहर देखे कि क्या अंजाम होता है जब तुम बादशाह की चोरी करते हो इसी वक्त इसे ले जाओ और उस कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर दो और इस तरह बेचारे जय को हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाया गया यहाँ किनारे खड़े लोग उस पर लानत भेजते चोर चोर शहर के लोगों को खुद को गालियां देते और इस पर लानत भेजते देखकर जय रो पड़ा काश कि मैंने सुनी होती जानवरों की बातें उस आदमी के एहसान फरामोशी और नाशुक्रगुजारी के बारे में तो मेरी ऐसी बुरी हालत ना होती क्या करूं तभी उसे याद आया कि उसके पास बंदर का तोहफा था उसने अपनी जेब से सीटी निकाली और उसे बजाया उसे सुनकर बंदर शहर में पहुंचा। या खुदा ये तो जय है वो सांप के बिल के पास गया और उसे पुकारा ए सांप सांप बाहर आओ जल्दी आओ सांप दीवारों के छेद से बाहर आया ये जय है वो मुसीबत में है हमें उसकी मदद करनी होगी मुझे एक तरकीब पता है इसके मुतालिक बताने के लिए शुक्रिया वो अपनी बहन के पास गया जो असल में एक जिन्नी थी और उसे पूरी कहानी सुनाई जो फौरन मान गई मदद करने के लिए ये लो ये उस आदमी को दे देना जब भी तुम्हें मौका मिले मैं उस खूबसूरत शहजादी पर तिलस्म नाजिल करूंगी और तुम इस बात पर तवज्जो देना कि तुम उस मुसाफिर को बता दो कि सिर्फ एक ही तरीका है शहजादी को होश में लाने का कि वो इस पत्ते को सूंघ ले चिन्नी गई और उसने शहजादी पर एक तिलस्म नाजिल कर दिया जो एक गहरी नींद में सो गई सांप आगे बढ़ा और जेल की कोठरी में गया जहाँ जय और रस्की को रखा गया था और उसे उस मंसूबे के बारे में बताया ये लो ये पत्ता रख लो और जब तुम्हें शहजादी के आराम गाह में बुलाया जाए तो तुम उसे इस पत्ते को सूंघा देना इस पत्ते को सूंघते ही वो जाग उठेगी अगले दिन बादशाह और उसके वजीरों में एक जोरदार बहस हुई कि किस तरीके से शहजादी को जगाया जाए बादशाह सलामत सभी हकीमों और फकीरों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली शहजादी को जगाने की पर सब जाया गया क्योंकि कुछ कारगर न हुआ उस शहरी को बुलाओ उसके पास इसका जवाब होगा शहरी पर इस शहर में कोई शहरी नहीं है फिर किसी चुड़ैल को मुझे परवाह नहीं किसी एक को अभी ढूंढो तब ही जमीन थरथराई और धुएं के गुबार के साथ एक चुड़ैल बादशाह के सामने नुमाया हुई क्या किसी ने एक चुड़ैल को बुलाया हाँ पहरेदारो मुझे शहजादी को होश में लाने की एक तरकीब मालूम है रुको मेहरबानी करके हमें बताओ सिर्फ वो ही इस तिलिस्म को तोड़ सकता है और शहजादी को बचा सकता है वो ऐसा शख्स होना चाहिए जिसे ना इंसाफी से जेल में डाला गया हो ठीक है उस कैदी को बुलाओ शेख को फौरन शहजादी के आराम गाह में बुलाया गया जहाँ उसने उसे वो पत्ता सुंघाया और जल्दी ही उस जड़ी बूटी की तासीर ने शहजादी को होश में ला दिया मेरी प्यारी परी बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुमने मेरी बेटी की जान बचाई मुझे बताओ अगर तुमने हार चुराया नहीं तो फिर ये तुम्हें कैसे मिला जय ने बादशाह को पूरा हाल कह सुनाया और उसने शहजादी की जान बचाने के लिए जय को इनाम दिया और झूठी इतला देने के जुर्म में और अपनी जान बचाने के बदले में जय की मदद ना करने की एवज में राजा ने जौहरी रॉरकिन को जेल में डालने का हुक्म दिया क्या नहीं इस तरह रॉरकिन ने एक बहुत अहम सबक सीखा कि हर इंसान को उस शख्स का एहसान मंद और शुक्रगुजार होना चाहिए जो उसकी मदद करता है और उसे एहसान लौटाना चाहिए बजाय लालची और खुदगर्ज बनने के